हरितिमा तोते में हरितिमा हंस चित्र विचित्र अच्छा एक बात और ये जो अणुओं की गति भी तो व्यवस्थित मिलती है ना अच्छा उनको तोड़ने का परिणाम भी सुनिश्चित होता है और जोड़ने का परिणाम भी सुनिश्चित होता है क्यों जी इतनी गणित के अनुसार सृष्टि बनाना जिसके नियम को हम पकड़ सकें इतने नियम के अनुसार सृष्टि को बनाना ये बिना ईश्वर के कैसे हो सकता है तो अचिंत्य रचना अनुपत्ति अचिंत्य रचना बिना ईश्वर के हो ही नहीं सकती संपूर्ण विश्व का नियमन जो है वो एक बुद्धिमान पुरुष शक्तिशाली या जगत के मूल में न हो तो कैसे हो भले उसका नाम अलग अलग रखो है ना देखो ईसाई लोग भी उसका एक नाम रखते हैं जगत का सर्जनहार है ना सर्जनहार हाँ। मुसलमान लोग भी उसका एक नाम रखते हैं तो बोले छब्बीसवा वो है क्योंकि जितना कार्य होता है वो कर्ता के प्रयत्न से होता है जैसे घड़ा बनता है तो कुम्हार के प्रयत्न से प्रयोजनीय जो वस्तु होती है वो कर्ता प्रयोजन के अनुसार बनाता है ये बात सृष्टि में सर्वत्र देखने में आती है हाँ। तो देखो स्त्री जब स्त्री बनाई गई होगी और पुरुष जब पुरुष बनाया गया होगा तो दोनों के शरीर की रचना में प्रयोजन दृष्टिगोचर होता है कि नहीं और सब बात को छोड़ दो स्त्री का शरीर एक विशेष प्रकार का बनाना और पुरुष का शरीर एक विशेष प्रकार का बनाना किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए ये भेद हुआ है कि बिना प्रयोजन ही के भेद हो गया है, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है भाई जिसकी आंख में नारा धूल न पड़ी हो हाँ, वो देख सकता है इस बात को कि प्रयोजनानुसार अमुक प्रयोजन की सिद्धि के लिए अमुक प्रकार की सृष्टि की गई है ये देखो हाथ बीच में से क्यों मुड़ते हैं है इसका कुछ प्रयोजन है कि नहीं है अगर ये बीच में से हाथ न मुड़ते तो क्या मजा आता है भोजन कर सकते आप नहीं कर सकते बिल्कुल स्पष्ट प्रयोजन मालूम पड़ता है वो हाँ कहते हैं एक राजा ने दो पांत बैठा दी दोनों में पत्थर पड़ गया बोले भाई देखो सबके हाथ में एक एक लकड़ी बांध दे यहां से लेके यहाँ तक हाथ सीधा रहेगा और खूब लड्डू पूरी हलवा मालपुआ सब अच्छा परसा गया और राजा ने हुक्म दिया कि खाओ अब तो सब महाराज नौजवान है नौजवान थे वहां हाथ से उठावे है ना और मुंह मिलाने की कोशिश करें तो जावे नहीं मुंह में हाँ। सब जवान थे वहां बुढ़ा कोई एक बुढ़ा था उसने कहा अरे मूर्खो ऐसे तुम लोग थोड़ी खा सकोगे है ना तो अपने हाथ से उठाओ और दूसरे के मुंह में डालो देखो सबका पेट भर जाएगा <laughs> ये बुढ़े की बुद्धि है वो <laughs> अब ऐसा ही हुआ अपने पत्थर पर से अपने हाथ से उठावे और अपने मुंह में न डाले सामने वाले के मुंह में डाले किसी का जूठा भी नहीं किसी को खाना पड़ा हो है ना उनको वो खिला रहे हैं उनको वो खिला रहे हैं उनको ये खिला रहे हैं अब देखो ये प्रयोजन अगर ये हाँ केहनी पर अगर हाथ झुकता नहीं तो कैसे अच्छा उंगली अगर टेढ़ी ना होती समझ लो अगर पांव घुटना टेढ़ा ना होता तो आप बैठ सकते क्या खड़ा ही रहना पड़ता बिल्कुल या पांव फैलाए रहना पड़ता कमर से न झुकता तो पाचन न होता तो मल न निकलता तो है ना खाने के लिए मुंह न होता तो अरे आपको क्या सुनावे हाँ, हमको एक बड़े वैज्ञानिक ने बताई ये बात कि ये जो धरती है ना धरती अगर जितनी दूरी पर है सूर्य से जिस दूरी पर घूमती है उससे दो फुट अगर और पास होती सूरज के दो फुट सिर्फ तो क्या परिणाम निकलता उसने गणित से बताया हो कि इसका क्या परिणाम निकलता न ऐसा दिन होता न ऐसी रात होती ये ऋतु का विभाग बिल्कुल नहीं होता और गर्मी इतनी ज्यादा होती कि इस तापमान में रहने वाले जीव रह नहीं सकते एक ने बताया हमको उसी ने बताया चंद्रमा अगर धरती से थोड़ा और पास होता तो क्या होता बोले समुद्र है ना ये बंबई को नहीं रहने देता दो फुट अगर दो फुट अगर नाप तौल में फर्क हो जाता समुद्र और चंद्रमा के तो बंबई यहां नहीं बच सकते थे ये <clears throat> इसी को बोलते हैं अचिंत रचना तो धर्म धर्म के अनुसार फल देना अधर्म के अनुसार है ना फल देना कर्म का फल देना है ना संसार को नियमित रखना अचिंत्य अनंत कोटि जो आश्चर्य हैं है ना उनका निर्माता होना और गणित की रीति से सारी सृष्टि का व्यवस्थित हो करके चलना है कहते हैं हवा का चलना अग्नि का प्रज्वलित होना है ना जल का बहना पृथ्वी का स्थिर होना ईश्वर का जैसे निरूपण है ना वेदों में आपको सुना मैं जे न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा जे न स्वस्थ जिससे ये अंतरिक्ष में खगोल में जितने तारे वारे हैं सब टिके हुए हैं जिससे धरती अपनी जगह पर है अपनी धुरी पर सब के सब घूम रहे हैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते भीषास्मात वात पवते भीषो देती सूर्य ये सब जन्म की व्यवस्था मृत्यु की व्यवस्था सुख की व्यवस्था दुख की व्यवस्था ये सब तो इसलिए छब्बीसवां तत्व स्वीकार करना चाहिए वो कौन का ईश्वर तो ये है पातंजल सांख्य योग कहते हैं ईश्वर को मानोगे तो बड़े बड़े लाभ होंगे एक तो ये सारी व्यवस्था उसमें सिद्ध हो जाएगी और दूसरे क्या होगा ध्यान करो ना तो कहते हैं स ये सब पूर्वे शाम अपनी गुरु हूं सब बापों का पहला बाप ईश्वर तो है सब गुरुओं का पहला गुरु ईश्वर है हाँ। समय उसने बनाया समय में वो नहीं बना समय को उसने बनाया काले नानवच्चेदा अच्छा तत्र सर्व निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम वो चिद भाव है वो सद्भाव है क्लेश कर्म विपाका से मृष्ट उसमें क्लेश कर्म विपाक और आशय नहीं है क्लेश नहीं माने अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश नहीं और कर्म का फल सुख दुख नहीं और आशय माने अंतकरण भी नहीं ऐसा ईश्वर महाराज जिसका ध्यान करने से प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम होवे और चित्त की एकाग्रता होवे समाधि सिद्ध होवे और प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम होवे जोगियों ने कहा 25 नहीं भाई 26 तत्व हैं अब ये छब्बीसवें तत्व की जो आलोचना है ना अब वो कल के लिए रखें

Yes. Um, षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशकैस्त्याहुः अनन्त इति चापरे लोकान् लोकविदः प्राहुः आश्रमा इति स्त्री स्त्रीपुंनपुंसकं लिङ्गा परापरमथा परे सृष्टि सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेहतु सर्वदा इयं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तो पश्य तंचावती स तद्रह तद्ग्रः तद्ग्रहः योग दर्शन और सांख्य दर्शन इन दोनों में जो मतभेद है उसका उल्लेख करते हैं एक ने कहा कि 25 तत्व हैं और एक ने कहा कि 26 जो लोग परमार्थ की शोध करते हैं खोज करते हैं वो विचार से घबराते नहीं हैं जो सोच विचार करने में कतराते हैं घबराते हैं बचने की कोशिश करते हैं तो उसको ये कहते हैं कि मंद बुद्धि है कोई भी बात अगर युक्ति और तर्क से कही जा रही है और अनुभवारूढ़ होती है तो सत्य के खोजी को वो मानने के लिए तैयार रहना चाहिए युक्त युक्त उपादेयम वचनम बालकादपि अगर बालक भी युक्त युक्त वचन कहता हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए अन्य तृणमिव त्याज्यम अप्युक्तम पद्म जन्मना और युक्ति के विरुद्ध अनुभव के विरुद्ध यदि ब्रह्मा भी बोलते हो तो उसको तिनके की तरह छोड़ देना चाहिए ये पुराना श्लोक है योग वाशिष्ठ का श्लोक है युक्ति युक्त मुपादेयम वचनम बालकादपि अन्य तृणमिव त्याज्यम अप्युक्तम पद्म जन्मना असल में छह दर्शन जो हमारे आस्तिक दर्शन हैं वो तीन जोड़ी हैं तीन जुगल हैं उनके तो पहला जुगल है न्याय और वैशेषिक का न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन गौतम कणाद तो एक में बताया गया है कि पदार्थ को परखने की उसके परीक्षण की प्रणाली क्या है न्याय दर्शन प्रमाण निरूपण प्रधान है प्रत्यक्ष क्या है अनुमान क्या है उपमान क्या है शब्द क्या है प्रमाण कितने होने चाहिए हेतु क्या है हेत्वाभास क्या है विचार के समय कैसे प्रतिज्ञा है ना हेतु और उदाहरण उपनय और निगमन पंचावय वाक्य का प्रयोग करके तर्क जो है ना प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन तर्क का कैसे प्रयोग करना चाहिए इसका निरूपण और वैशेषिक पदार्थ प्रधान दर्शन है कि इन प्रमाणों से वस्तु जो सिद्ध होती है वो क्या है तो एक प्रक्रिया दर्शन हुआ और एक पदार्थ दर्शन हुआ पृथ्वी के परमाणु हैं जल के परमाणु हैं अग्नि के परमाणु हैं वायु के परमाणु हैं आकाश के परमाणु नहीं है, है? मन कैसा है आत्मा क्या है काल क्या है दिशा क्या है इन सब पदार्थों का विवेचन है ऐसे दूसरा जुगल है योग दर्शन और सांख्य दर्शन एक ने बताया कि पांच विषय पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन ये सोलह तो विकार हैं और पंच तन्मात्रा अहंकार और महतत्व ये सात प्रकृति विकृति हैं और एक प्रधान मूल प्रकृति है और दृष्टा जो है पच्चीसवा सबसे विलक्षण है योग दर्शन कहता है कि अगर इस बात को देखना हो यदि तुम खुद इसका अनुभव करना चाहते हो तो आ जाओ हाँ, हमारी पार्टी में ये जितने साध्य साधन वाले होते हैं ना व्याख्यान देने वाले लोग प्राय अपनी पार्टी तो बढ़ाते हैं अगर बुद्धिगत दोष हो संशय हो तो आमने सामने बातचीत करके मिटा लो और भगवत रस का आस्वादन करना हो भगवत चरित्र श्रवण करो और ये जो व्याख्यान है ये तो संप्रदाय की वृद्धि के लिए होते हैं भोले भाले लोग जो हैं वो उसमें फंस जाते हैं पाषित फंस जाना माने पाषित हो जाना पास जो है ना पास फांसी पासित पास का फांस हो गया फंसे तो योग दर्शन का ये कहना कि एक तो अपने जीवन में जो नियम बनाओ उसमें ईश्वर को दैनिक वस्तु बना लो ईश्वर प्रणिधान थोड़ा रोज भगवान का जप करो नाम का मूर्ति का थोड़ा ध्यान करो पूजा करो है ना इससे तुम्हारे जीवन में नियम आवेगा हो नियम तो सत्य हिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये तो है यम और ईश्वर प्रणिधान है नियम तो उनका यह कहना है कि नियम कभी कभी छूट जाए तो उतनी हानि नहीं है परंतु यम कभी छूट जाए तो बड़ी भारी हानि है वो कहते हैं कि सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इन पांचों में से किसी को छोड़ो मत और कभी पवित्रता के नियम में कोई बाधा पड़ जाए कभी स्वाध्याय छूट जाए है ना कभी मन में लोभ आ जाए कभी माला न फिरी हाँ। इसमें उतनी हानि नहीं है लेकिन सत्य हिंसा आस्ते जो है हाँ, ये तो यमान अभीक्षणम सेवे तो एक आध दिन माला छूट जाए कोई बात नहीं लेकिन झूठ मत बोलना है ना हाँ। एक आध दिन माला छूट जाए कोई बात नहीं लेकिन किसी को सताना मत गाली मत लेना एक आध दिन माला छूट गई कोई बात नहीं आ, हाँ, लेकिन किसी की चोरी मत करना बेईमानी मत करना तो किसी को सताना कभी नहीं चोरी कभी नहीं करना है ना ब्रह्मचर्य जो अपने लिए उचित है आ, हाँ, उसका भंग कभी नहीं करना हाँ, नियम से यम बड़ा होता है ये योग दर्शन का मत है हो यमान अभीक्षणम सेवे तो न नित्यम नियमान बुधा यमान पतत्य कुर्बाणो नियमान केवलान भजन नियम का तो पालन करे पूजा करे माला फेरे परंतु झूठ बोले दूसरे को सतावे दूसरे का माल चुरावे तो उसका पतन हो जाता है ये बात शास्त्रों में ये मनुस्मृति का श्लोक है मनुस्मृति का है भागवत का है विष्णु पुराण का है अब वो किस किस ग्रंथ का है ये बताने की कोई जरूरत नहीं तो एक तो ईश्वर प्रणिधान जोगियों ने रखा नियम में और दूसरा रखा क्रिया योग में हाँ रोज दान करना तो थोड़ा ईश्वर के नाम पर भी करना हो क्योंकि जिसकी दी हुई चीज है है ना उसकी याद किए बिना चार दाने चार चने उसके लिए निकाल दो है ना एक नया पैसा उसके लिए निकाल दो सारा अपनी क्रिया में ईश्वर के लिए थोड़ा स्थान रखो तीसरी बात योग दर्शन वालों ने ये कही कि यदि ईश्वर का ध्यान करोगे तो तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाएगा ईश्वर प्रणिधानादवा समाधि सिद्धि ईश्वर का प्रणिधान करने से ईश्वर का ध्यान करने से समाधि की सिद्धि होती है चौथी बात उन्होंने ये कही कि ईश्वर का ध्यान करने से प्रणव का जप करने से जो साधन में विघ्न आते हैं वे विघ्न मिट जाते हैं विघ्न निवारण हो जाता है ये सब बात तो हुई परंतु उन्होंने तत्व विवेक में ईश्वर को कहा रखा ये बात स्पष्ट नहीं हुई उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर अविनाशी है और ईश्वर सर्वज्ञ है ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट परमानंद स्वरूप है ऐसा परंतु तत्व विवेचन की भूमिका में ईश्वर को कहा रखा जाए ये बात उन्होंने पुरुष विशेष कह करके छोड़ दी तो पुरुष विशेष का अभिप्राय आपको बताता है पुरुष विशेष का अभिप्राय है कि सांख्यों ने एक तो माना दृष्टा आत्मा और एक माना दृश्य तो दृश्य में कार्य रूप पंचभूत और कार्य कारण रूप प्रकृति विकृति और नारायण कारण रूप प्रकृति और दृष्टा पुरुष सबका दृष्टा जो है वो अपना आत्मा है और ध्यान का स्वरूप ये है कहीं भी सृष्टि में राग द्वेष न होने पावे स्वयं अपने को कूटस्थ तटस्थ दृष्टा के रूप में अनुभव करो है ना ये प्रकृति और प्राकृत संपूर्ण जगत दृश्य है और मैं दृष्टा हूं तो अब जोगियों ने इस पर यह बात कही कि देखो प्रकृति सारी सृष्टि को बनाती है ऐसा तुम तो मानते हो और दृष्टा आत्मा अलग है ये भी मानते हो लेकिन एक दृष्टा आत्मा कोई विशेष है वो विशेष क्या है कब वो प्रकृति को नियंत्रित करता है प्रकृति जो है वो चेतन नहीं है अचेतन है तो वो नियम से व्यवस्था से कायदे से सब काम नहीं कर सकती सारी रचना वो गणित के नियमानुसार नहीं कर सकती इसलिए उसमें कोई सर्वज्ञ पुरुष लगा हुआ है और उसी की प्रेरणा से उसी के संविधान से ये प्रकृति सारी सृष्टि ठीक ठीक बनाती है इसलिए तुम पच्चीस मत मानो छब्बीस तत्व तो मानो तो अब देखो कितनी बात हो गई एक तो मनुष्य के जीवन में नियम रूप सदाचार रहने के लिए दूसरी बात व्यक्तित्व का अभिमान तोड़ने के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण और तीसरी बात चित्त की एकाग्रता के लिए ईश्वर का ध्यान है और पांचवी बात जगत के नियमन के लिए सर्वज्ञ ईश्वर जैसे इस शरीर में जीवात्मा शरीर का नियमन करता है वैसे ही समग्र विश्व में जो सब का नियंता है सर्वज्ञ ईश्वर वो ईश्वर हाँ। और उसके ध्यान से सुख मिलता है शांति मिलती है और समाधि सिद्ध होती है वही सबको ज्ञान भी देता है वही सबको बनाता भी है और वही सबका परम प्रिय भी है उसके आधार पर समाधि लगाना अब वेदांती जो हैं वो योग दर्शन वालों से बात करते हैं तो वेदांतियों का ये कहना है कि जहां तक तुम अंतकरण शुद्धि के लिए ईश्वर का उपयोग मानते हो वहां तक हमारा तुम्हारा कोई मतभेद नहीं है ईश्वर के नाम पर सदाचारी बनो ईश्वर के नाम पर चित्त एकाग्र करो है ना ईश्वर के नाम पर अपने कर्म विश्व की सेवा में लगाओ है ना ये सब ठीक है परंतु जहां तक तुम पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर को मानते हो वहां प्रश्न ये है कि दूसरा कोई दृष्टा पुरुष है दूसरा कोई चेतन पुरुष है ये तुम्हारे अनुभव में कैसे आता है जरा उसकी प्रक्रिया बताओ अभी कई बात आपको सुनाएंगे इसके बारे में <clears throat> तो एक तो अपने से पृथक जो अनुभव का विषय होगा वो दृश्य होगा और उसमें जड़ता आवेगी हमसे अलग होकर के अगर ईश्वर हो गए ये ये आपको जो नए नए श्रोता है ना उनकी समझ में ये बात जल्दी नहीं आवेगी ये बात मैं मानता हूं बोला पर विचार करके देखो चेतन उसको कहते हैं कि जो अपने को जाने और दूसरे को भी जाने और जड़ उसको कहते हैं जो जाना जाए आजकल की विद्या में ये बात बताई जाती है कि जिसके इंद्रियां होवे वो चेतन और जिसके इंद्रियां न होवे वो जड़ सेंद्रियत्व जो है वो चैतन्य का लक्षण है और निरिंद्रियत्व जो है ये जड़ का लक्षण है और सेंद्रियत्व चेतन का लक्षण है अब प्राचीन परिभाषा में इंद्रिय वाले को चेतन नहीं मानते इंद्रियां भी जड़ हैं और इंद्रिय वाला ये शरीर भी जड़ ही है हाँ, केवल जो शुद्ध ज्ञान है उसी को चेतन मानते हैं तो जिसको अब ये जो कार्ड है चित्र है इसको जानने वाले की अपेक्षा है ये खुद अपने को नहीं जानता है हमारे द्वारा जाना जाता है तो जिसको अपने से अतिरिक्त जानने वाले की जरूरत हो उसको जड़ कहते हैं है ना और जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने उसको चेतन कहते हैं अब देखो प्रश्न ये है कि जहां दृष्टा और दृश्य के विवेक की भूमि उपस्थित हुई वहां ईश्वर दृष्टा है कि दृश्य है ये प्रश्न खड़ा होगा है ना तो यदि ईश्वर दृष्टा है तब तो अपना आत्मा है और यदि दृश्य है तो प्रकृति प्राकृत के अंतर्गत जड़ है वो भी किसी जड़ता के नियम में बदा हुआ है लो ईश्वर नियमित है कि नहीं ईश्वर की प्रत्येक गति विधि नियमानुसार है कि नहीं आ, हाँ। तो उपाधि के नियंत्रित होने से उपाधिस्थ चैतन्य भी नियंत्रित हो गया इसी बात को वेदांति लोग कहते हैं कारणोपाधिक ईश्वर है कार्योपाधिक जीव है अंतकरण कार्य है इसको उपाधि लेकर के जो बैठा है सो जीव और कारण को अपनी उपाधि बनाकर जो बैठा है सो ईश्वर और शुद्ध जो चैतन्य है वो न कारणोपाधिक न कार्योपाधिक जीव और ईश्वर दोनों से विलक्षण है तो देखो इसमें केवल ईश्वर की बात नहीं है बात तो ये आई कि दूसरा दृष्ट ही नहीं हो सकता सांख्यों ने दृष्टा को तत्व मानकर जो अनेक माना वो भी गलत है ना और जोगियों ने जो ईश्वर को पुरुष विशेष के रूप में माना सो भी गलत है ना ये ईश्वर का निषेध नहीं हुआ हो ईश्वर के अमुक रूप का निषेध हुआ जैसे पूर्व मीमांसक कहते हैं कि हम नैयायिकों के ईश्वर का खंडन करते हैं ईश्वर का खंडन नहीं करते नैयायिकों ने ईश्वर को कर्ता के रूप में माना उसका हम खंडन करते हैं क्योंकि कर्ता ईश्वर तो कर्म का नौकर होगा उसमें क्या ऐश्वर्य होगा ये पूर्व मीमांसा कैसे बोलते हैं अच्छा जब ये कहो कि हमारे पीठ के पीछे ईश्वर है माने ईश्वर भी तो कई तरह के होते हैं ना एक तो वो जिनको अपनी गोद में लेके खिलाया जाए है ना हाँ बच्चे की वासना जिनके चित्त में ज्यादा है तो नारायण वो ईश्वर को पुत्र के रूप में देखते ईश्वर पुत्र भी है भला का जिनको मित्र की इच्छा है वो मित्र के रूप में देखते हैं जिनको पति की इच्छा है वो ईश्वर को पति के रूप में देखते हैं जिनको स्वामी की इच्छा है वो ईश्वर को स्वामी के रूप में देखते हैं तो ये क्या है कि यहाँ ईश्वर में वृत्ति का विषयत्व है बोला अब जो दर्शन तो कहता है कि वृत्ति का निरोध करो हैं तो जब वृत्ति का निरोध करेंगे तो वृत्ति आकार शून्य होगी वृत्ति निरुद्ध होगी वृत्ति निर्विषय होगी तब उसमें इन रूपों में ईश्वर कहाँ रहेगा तो असल में दूसरा दृष्टा ही नहीं है अपने सिवाय जब दूसरा दृष्टा नहीं है तो दृष्टाओं की अपेक्षा से एक दृष्टा विशेष दृष्टि विशेष विशेष दृष्टा कहां से होगा अच्छा तो एक तो दृष्टा और दृश्य की भूमिका में अपने आत्मा से पृथक ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जा सकता इसलिए तत्व को 26 बनाना बिल्कुल गलत है एक बात है अब दूसरी बात जरा समाधि वाले भी आपको सुनाते हैं वो ये है कि वेदांतियों का तो ऐसा कहना है कि जो लोग आत्मा में आनंद का चिंतन करते हैं कि आत्मा आनंद रूप है तो उनको विषय से वैराग्य होवे ये फल तो ठीक है कि भाई आत्मा में ही आनंद है विषयों में आनंद नहीं है अरे क्या विषय तो बड़े गंदे हैं हाँ, एक आम का स्वाद लेना पड़े तो उसको काटना पड़ता है फिर दांत से कुचलना पड़ता है है और फिर निगल जाना पड़ता है नारायण ये विषय भोग की ये स्थिति है वो इसी से भोग को हिंसा बोलते हैं नानुपहत्य भूतानी भोग संभवती बिना किसी को दुख पहुंचाए भोग नाम की वस्तु हो ही नहीं सकती एक न एक को दुख देंगे तब भोग करेंगे हाँ कोई वस्तु नष्ट होगी है ना कोई कर्म नष्ट होगा है? हाँ। किसी का धर्म नष्ट होगा अपना हो पराया हो नानुपहत्य भूतानी भोग संभवते प्राणियों को दुख पहुंचाए बिना भोग नहीं हो सकता हाँ। ईश्वर भी जो संपूर्ण जगत का कारण है अभिन्न निमित्तोपादान कारण विवर्ती अखंड चैतन्य है उसको जब तक नन्हा बना करके गोद में नहीं ले आवेंगे तब तक वृत्ति का विषय कैसे होगा तो वेदांतियों का इस संबंध में ये कहना है कि यदि ईश्वर को आनंद रूप मानोगे तो ये इतना प्रयोजन तो सिद्ध होगा कि ईश्वर में आनंद है आत्मा में आनंद है विषय में आनंद नहीं है विषय से वैराग्य होगा लेकिन उस आनंद में जो रागात्मक वृत्ति होगी उस वृत्ति का समाधि के लिए तो निरोध करना पड़ेगा और आत्मज्ञान के लिए उसका बाध करना पड़ेगा है ना बिना आत्मज्ञान के लिए उसका बाध किए स्वरूप स्थिति नहीं होगी हाँ, ये जो आनंद चाहने वाले हैं हाँ, इनके समझो ऐसे ही है कि एक आदमी ने कहा बाबा देखो हम तो चाट खाना चाहते हैं पैसे से मिले तो पैसे से खरीद लो और न मिले तो चुरा के ले आओ क्योंकि हम तो चाट खाना चाहते हैं तो जो वस्तु के प्रेमी हो जाते हैं वो फिर न्याय अन्याय न्याय अन्याय नहीं देखते हैं वो है ना बोले देखो भाई हमारी तो आदत पड़ गई है चोरी करने की उसी में मजा आता है है ना चोरी नहीं बनी तो तुम्बा फेरी करो जब मनुष्य और जो सत्य का प्रेमी होता है वो कहता है हम जन्म जन्म नरक में पड़ेंगे हम आग में तपेंगे है ना हम परिश्रम ही करते रहेंगे हम बार बार मरेंगे और जिएंगे लेकिन जो सच्ची चीज है उसका हम पता लगा के छोड़ेंगे जिज्ञासु सत्य का प्रेमी होता है आनंद भी सच्चा हो तो उसको चाहिए है ना और झूठा कल्पना से है ना उधर हो दुआबा में दुआबा एक प्रदेश है छोटा सा स्थान है गंगा और सरजू जहां मिलती है ना दुआबा तो बरसात के दिनों में खूब बाढ़ आती है तो घर बह जाता है लोगों को फिर छप्पर डाल देते हैं छप्पर डाल लेते हैं तो बैसाख जेठ में आजकल खूब जोर से लू चलती है और हवा चलती है तो दिन में किसी के घर में रसोई नहीं बनती सत्तू बना के रखते हैं और ही खाते हैं तो बच्चे खेल रहे हैं बोले आओ भाई झूठ मूठ का सत्तू खाएं एक बच्चे ने कहा कि जब झूठे मूठ का सत्तू खाना खाना है तो सत्तू का है को खाते हो भाई लड्डू खाओ बोला जब झूठ मूठ का खाना है तो सत्तू क्यों खाते हो लड्डू खाओ तो इसी से देखो वेदांत के विचार में आत्मा की आनंद रूपता पर उतना जोर नहीं दिया जाता क्योंकि आत्मा आनंद है अगर ऐसी वृत्ति भी बनेगी तो रागात्मक वृत्ति बन जाएगी और व्यक्तित्व का बाध नहीं होगा इसलिए वेदांती लोग जो हैं है ना आत्मा जो है अविनाशी है और स्वयं प्रकाश है और अचिंत्य है अलक्षण है अव्यपदेश है अपूर्व है अनपर है अनंतर है अभाज्य है ये सारी बात बोलते हैं परंतु आत्मा की आनंद रूपता पर उतना जोर नहीं देते हैं क्योंकि यदि वृत्ति आनंदाकार बन गई तो उस वृत्ति से वैराग्य नहीं होगा और वृत्ति से वैराग्य नहीं होगा तो उसका बाद नहीं होगा तो अब देखो आपको सुनाते हैं ये जोगी लोग भी जो समाधि मानते हैं है ना वितर्कानुगत और विचारानुगत इन दोनों में ईश्वर का आलंबन चलता है और आनंदानुगत इसमें भी ईश्वर का आलंबन चलता है परंतु जब अस्मितानुगत समाधि वो लगाते हैं माने संप्रज्ञात समाधि की चतुर्थ भूमिका में जब पहुंचते हैं हाँ वितर्क मन स्थूल का आलम्बन लेकर के सालग्राम की मूर्ति का आलम्बन लेकर के अपने चित्त को एकाग्र किया वितर्कानुगत समाधि और केवल सूक्ष्म भावात्मक रूप को लेकर के अपने चित्त को एकाग्र किया वो विचारानुगत समाधि और केवल आनंद मात्र का चिंतन करके हाँ, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु हाँ, आनंद विकल्प आनंदानुगत समाधि हुई यहां तक भी आनंद रूपता चलती है परंतु जहां अस्मिता अनुगत समाधि माने संप्रज्ञात समाधि की चतुर्थ भूमि में हाँ, आनंद नहीं होता है अब जब असंप्रज्ञात समाधि लगती है तो उसमें निर्विकल्प सविकल्प और निर्विकल्प नारायण निर्विकल्प में भी सबीज और निर्बीज नारायण असंप्रज्ञात समाधि की भूमि में जब संपूर्ण वृत्तियों का निरोध होता है तो योगियों के मत में भी अयम ईश्वर इत्याकारक वृत्ति नहीं रहती है वृत्ति नहीं रहती है हमारे कहने का अभिप्राय यह है निर्विकल्प समाधि में हाँ, सबीज समाधि में निर्बीज समाधि में अयम ईश्वर इत्याकारक वृत्ति नहीं रहती है और अहम आनंद आत्मा इत्याकारक वृत्ति भी नहीं रहती है केवल दृंग मात्र वस्तु जो है दृष्टा लेकिन उसको भी वो संस्कार पहले वाला रह जाता है कि जगत सत्य है ईश्वर अन्य है दृष्टा अनेक हैं उस समय तो उनकी आ, ऐसी वृत्ति नहीं होती है परंतु समाधि से उठने के बाद वैसी वृत्ति हो जाती है तो योगियों के दर्शन में ईश्वर जो है वो संप्रज्ञात समाधि की तीन भूमिका तक रह सकता है चौथी में नहीं रह सकता और निर्विकल्प जो असंप्रज्ञात समाधि है का उसमें ईश्वर का चिंतन नहीं होता है इसलिए महाराज इसीलिए भक्त लोग जो है ना वो जोगियों से जो डरते हैं जोगियों से डरते हैं इसका कारण क्या है कि ये महाराज आसन प्राणायाम करवा के प्रत्याहार धारणा करवा के कहीं हमारे ईश्वर को न छुड़ा दे है ना भक्त लोग जोगियों के संसर्ग से हो डरते हैं अब ये जो वेदांती हैं ये कहते हैं कि बाबा ये जो तुम्हारी समाधि लगी ये चित्त की लगी चित्त वृत्तियों की समाधि लगी ना निरोध हुआ और उसके तुम दृष्टा हुए तो एक चित्त के दृष्टा हुए कि सब चित्त के दृष्टा हुए तो योगी तो एक चित्त का दृष्टा हुआ वेदांति कहता है कि यदि तुम एक चित्त के दृष्टा हो तो जैसे पहले चित्त के साथ तुम्हारा संबंध नहीं था और प्रकृति ने नाच के गाय के लुभाए के तुमको चित्त का संगी बना लिया ऐसे तुम थोड़ी देर के लिए चित्त के दृष्टा बन जाओ लेकिन पूरे पूरे व प्रकृति संगम आपादय प्रकृति जो है वो पहले की तरह फिर से तुमको अपनी संगीनी अपना संगी बना लेगी क्योंकि प्रकृति को तो चाहिए कोई साथी ये नाचने वाले हैं ना अगर कोई देखने वाला न हो है ना तो सीखते समय तो भले एकांत में नाचे लेकिन सीख जाने के बाद बिना किसी को दिखाए उनको नाचने का मजा नहीं आएगा ये गवैया लोग जो है ना उनको कोई ना कोई सुनवैया चाहिए गौया लोगों को सुनवैया न मिले तो उनका गाना भी अर्थ हाँ। और नाचने वालों को कोई देखने वाला न मिले अरे उनको तो वाह वाह चाहिए हो हाँ। ये कवि लोग हैं जितने कलाकार होते हैं ना ये तो सृष्टि जो है ये प्रकृति की एक कला है हाँ। उसने नाच के गाय कहीं गा रही है देखो है ना कहीं प्रकृति गा रही है कहीं गुदगुदा रही है कहीं हंस रही है हैं कहीं अपना सौंदर्य प्रकट कर रही है देखो क्या शीतल गंगा जी का जल बह रहा है क्या सुंदर फूल खिल रहे हैं हैं क्या इत्र निकल रहा है माटी का भी इत्र निकलता है वो मिट्टी का भी इत्र होता है क्या बढ़िया इत्र निकल रहा है तो ये प्रकृति जो इत्र बन रही है प्रकृति जो स्वाद बन रही है प्रकृति जो सौंदर्य बन रही है प्रकृति जो सौकुमार्य बन रही है हैं और प्रकृति जो सौस्वर्ज बन रही है यदि इसको कोई देखने वाला न हो तो ये बिचारी तो मुरझाए के बेहोश हो जाएगी तो महात्मा लोग तो प्रकृति के नृत्य का जो रहस्य है वो समझते हैं तुम का माया नाचो कूदो हमहू बड़े नचनिया यहाँ तुम्हारी दाल न गली है हम है पलटू बनिया है यहाँ तुम्हारी दाल न गली है हाँ, हम है पलटू बनिया तो ये जो प्रकृति का नृत्य है इसको देखने वाला दृष्टा चाहिए तो बोले कि जैसे देखो पहले से तुम दृष्टा हो कि नहीं कहा तो सही तो बोले प्रकृति ने नाच कूद करके तुमको फंसा लिया कि नहीं फंसा लिया का अभी तुम योगाभ्यास करके और विवेक करके दृष्टा हुए हो तो फिर ये नाच कूद के तुमको फंसा लेगी तब दृष्टा ने कहा कि फिर क्या करना चाहिए तो करना ये चाहिए कि तुमको ब्रह्म से एक हो जाना चाहिए जब तुम अपने को ब्रह्म जान जाओगे दृष्टा जी है कि मेरे सिवाय दूसरा कोई दृष्टा नहीं है मेरे सिवाय दूसरा कोई पुरुष विशेष नहीं है मेरे सिवाय कोई प्रकृति नहीं है और मेरे सिवाय कोई है ना प्रकृति का कोई ये नाच नहीं है खेल नहीं है ये अपना स्वरूप है वो तो बोले कि फिर ये 25 और 26 का जो झगड़ा है ये बिल्कुल मिट जाएगा है ना तो वेदांतियों ने वेदांतियों ने कहा कि 25 को काट दिया 26 ने और 26 को काट दिया 25 ने इन दोनों को अलग रहने दो अब आगे चलो इसमें शैव आए हाँ। ये कश्मीरी शैव जो हैं ये 31 तत्व मानते हैं पाशुपत जो है पाशुपत हाँ। कश्मीरी शैव दूसरे हैं और पाशुपत दूसरे हैं इसमें आप देखो बड़ा मजेदार है क्या कि उपासकों में भी दो तरह के हैं यह ईश्वर है ऐसी उपासना करने वाला और मैं ईश्वर हूं ऐसी उपासना करने वाला ईश्वरवादी तो में मतलब बोले वेदांत की बात नहीं है ये वेदांती लोग मैं ईश्वर नहीं बोलते हैं हाँ उड़िया बाबा जी से एक दिन किसी ने पूछा कि महाराज जीव ईश्वर दोनों एक ही है ना बोले किसने कह दिया तुमसे अरे कहा सुन के आए हो है ना जीव ईश्वर एक नहीं हुआ करते है? तो जीव जीव है ईश्वर ईश्वर है ये कहीं एक होता है बोले ये तो गजब की बात आप करते हैं महाराज गजब बात करते हैं बोले नहीं नहीं जीव जो है है ना वो तो कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न संसारी है और ईश्वर जो है हाँ, वो तो कारणोपाधिक हाँ, समष्टि उपाधि परिपूर्ण है दोनों में जो एक शुद्ध चैतन्य है ना वो एक है बोला वो अद्वय है उसमें तो जीव ईश्वर का भेद ही नहीं है नारायण तो ब्रह्म चैतन्य को एक बताना दूसरी चीज है और जीव ईश्वर की एकता बताना दूसरी चीज है तो ये जो शैव लोग हैं पाशुपत लोग हैं ये कहते हैं 26 नहीं इकतीस पदार्थ हैं एक त्रिंसक इत्याहु इकतीस है इकतीस बोले ये कैसे गिन लिया भाई तुमने इकतीस कैसे गिना बोले राग अविद्या नियति कालकला और माया ये पांच और जोड़ दो छब्बीस में तो इकतीस हो गए तो छब्बीस की बात तो आपको सुनाई दी थी है ना प्रकृति के 24 भेद प्रकृति एक और सात उसकी विकृति आठ हो गए दोनों मिलके और सोलह विकार चौबीस हो गए और दृष्टा एक पच्चीस हो गया और एक ईश्वर छब्बीस हो गया और उसमें राग अविद्या नियति कालकला और माया ये पांचों को जोड़ दिया तो इकतीस हो गए तो ये इकतीस तत्व पाशुपत लोग स्वीकार करते हैं देखो इसमें बोले अच्छा भाई राग को तुम तत्व स्वीकार करते हो तो अस्मिता को क्यों नहीं करते तो बोले वो तो अविद्या के अंतर्गत है बोले अविद्या के अंतर्गत जब अस्मिता है तो राग क्या अविद्या के अंतर्गत नहीं है राग भी अविद्या के अंतर्गत है अच्छा राग को तत्व तो मानते हो तो द्वेष को क्यों नहीं मानते करे वो तो राग का दूसरा पहलू है अच्छा तो विद्या को तत्व तो मानो क्योंकि वो अविद्या का दूसरा पहलू है या गिनने में गड़बड़ है क्या गिन एक तो काल कला और नियति ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं और तीसरी बात क्या हुई कि वो 26 गिनने